بسم الله الرحمن الرحيم الفن الأول علم المعاني پہلا فن علم معاني ہے قدمه على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب یہاں پر مصنف علی الرحمن نے علم معانی کو بیان کیا इस किताब के अंदर तीन फ़नून का जिक्र है इल्म मानी इल्म बयान और इल्म बसीर सबसे पहले इल्म मानी को लेकर आए इल्म मानी को पहले क्यों लेकर आए इल्म इल्म बयान को मौखर क्यों किया उसकी वजह यहाँ से बतला रहे हैं शार अल्लामा जानी रहमतुल्लाह के कदमा अला इल्म बयानी इल्म मानी को इल्म बयान पर मुकदम किया लिकाउ नहीं लिकौनिही मिनहू बिमनसिलतिल मुफरदी मिनल मरकबी उसके ये लिकौनिही की ज़मीर का मर्जा है इल्म मानी दो नंबर लिखा हुआ है ना नीचे तो इसका मर्जा इल्म मानी उसके यानी इल्म मानी के मिन हु उसके यानी इल्म बयान के मुकाबले में होने की वजह से किस तरह विमन जिलतिल मुफरदी मिरन मरकबी मुफरत के दर्जे में मरकब के मुकाबले में क्या मतलब ये इबारत थोड़ी सी तर्जमे के अतबार से कुछ ऐसी है इसका पहले मतलब समझ लो मुफरत और मरकब मुरकब जब बनता है जब चंद मुफरादात को मिलाया जाता है तो जब तक मुफरत नहीं होगा तो मरकब भी नहीं हो सकता मुफरत को पहले लाया जाता है और मरकब को मुखर किया जाता है इसी तरह इल्म मानी ये मुफरत के दर्जे में है और इल्म बयान वो मरकब के दर्जे में है तो जब इल्म मानी मुफरत के दर्जे में है तो इसलिए इसको मुकदम किया और इल्म बयान मरकब के दर्जे में है तो इसलिए उसको मुखर किया कदमल कदमा अला इल्म इसको यानी इल्म मानी को इल्म बयान पर मुकदम किया इल्म मानी के इल्म बयान के मुकाबले में मुफरत के मरकब के मुकाबले मुफरत के दर्जे में होने की वजह से मरकब के मुकाबले में ये तर्जुमा समझ आया कुछ नहीं आया ना तो लिखा नहीं इल्म मानी के मिनहू इल्म बयान के मुकाबले में होने की वजह से किस तरह जिस तरह मुफरत मुफरत जो है मुरकब के मुकाबले में है मुफरत मुरकब के मुकाबले में यानी इल्म मानी का दर्जा ऐसा ही है जैसा कि मुफरत का दर्जा होता है और इल्म बयान का दर्जा ऐसा है जैसा कि मुरकब का दर्जा हुआ करता है इसीलिए इल्म मानी को पहले लाए और इल्म बयान को मुखर किया आपने इसको बदलाया कि इल्म मान ये मुफरत के दर्जे में है और इल्म बयान मुरकब के दर्जे में है किस तरह यो इस तरह से उसकी इल्लत आगे बदलाने है रियायत मुताबकत मकतज़ल हाली तो इल्म मान के अंदर ये होता है कि मकतज़ हाल की मुताबकत की रियायत होती है मकतज़ हाल की मुताबकत की रियायत होती है और इल्म बयान के अंदर एक तो यही है मकसद हाल की मुताबकत की रियायत और इसके अलावा एक दूसरी चीज़ और भी है और वो दूसरी चीज़ है इरादुलमान वाहिदी फ़ी तुरुकिन मुख्तलिफत बोला तीसरी चौथी लाइन में हुआ वो माना माना वाहिद का मानल वाहिदी मान वाहिद का मुख्तलिफ तरीक़ों में लाना मुख्तलिफ तरीक़ों पर लाना क्या मतलब इल्म बयान के अंदर वजूह खिसा के अतबार से एक बात ये बयान की जाती है कि एक माना को हमें मान वाहिद है एक माना को बयान करना है और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करना है तो कैसे बयान करेंगे जैसे एक आदमी सखी है जैद सखी है तो जैद की सखावत को बयान करना है तो जैद की सखावत को हम किस तरह से बयान करें उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं ये तीन नंबर हाशिया है जो देखो इन्होंने दिया है कौलहू अलमान अलवाहिद का सबूतिल जूदी लिजाइदिन जैसा कि सखावत का सबूत जेर के लिए फ़ैन का तबर अनहू कि उसको ताबीर किया जाता है तारतन बिकौली का जैदन सखी है कभी तो तेरे कौल जैदन सफ़ी कि जैद सखी है इससे और कभी कहा जाता है जैदन कसीर रमाद जैद कसीर रमाद है यानी बहुत ज़्यादा राख वाला है बहुत ज़्यादा सुराख वाला है सखावत को बयान करने के लिए जेब बहुत ज़्यादा राख वाला है क्या मतलब बहुत ज़्यादा राख जिसके घर में हो एक कमरा भर लो राख का तो उससे क्या होगा वो आदमी सखी माना जाएगा है ये मतलब है क्या मतलब इसके अंदर शिफा है जेब की सखावत बयान करने के लिए ये भी एक तरीका है ये बता चुका हूँ पहले भी मैं बताओ हम्म बोला में बताया था कसीर रमात अरे राख इसके वहाँ बहुत ज़्यादा राख क्यों किसके वहाँ होंगी जिसके यहाँ लकड़िया ज़्यादा जलती होंगी ज़्यादा होगा लकड़ी ज़्यादा जलती होंगी खाना ज़्यादा पकता होगा और जहाँ खाना ज़्यादा पकता होगा तो वहाँ मेहमान भी ज़्यादा आते होंगे और जहाँ मेहमान ज़्यादा आते तो मालूम हुआ कि इसके यहाँ मेहमान ज़्यादा आते हैं ये बड़ा सख्ती है तो जईदन कसीर रहमान इस तरह से इसको ताबीर किया जा सकता है तो ये तरीके इसके अंदर इनमें बयान के अंदर बयान किए जाते हैं जैसे ही जैसे एक मिसाल हो दी इन्होंने जईदन हजील हजील का माना हजील होता है ना पतला दुबला और फसील कहते हैं बच्चा ऊँटनी का बच्चा के जेद की जो ऊँटनी है उसके जो बच्चे हैं वो बहुत पतले दुबले हैं तो इससे भी जेद की सखावत मुराद होती है कहते होगी सखावत मुराद हम्म, कोई बता सकता है जेद की जो ऊँटनी है उसके जो बच्चे हैं वो बहुत पतले दुबले हैं तो दूध तो गया मेहमानों के पास अब दूध उनको सही से मिल नहीं पाता तो इस वजह से वो पतले दुबले हैं तो इससे मालूम हुआ कि सेहत बहुत बड़ा सब्जी है तो देखो कैसे कैसे कुछ बदलाव किया जाता है तो ये इल्म बयान के अंदर एक जायद चीज़ आती है तो इसलिए इल्म बयान के अंदर दो चीज़ें हुई इसलिए वो मरकब के दर्जे में हुआ और इल्म मानी के अंदर एक चीज़ हुई इसलिए मुफरत के दर्जे में हुआ देखो लियन रियायत मुताबकत हाल हाली इसलिए के मुख्त हाल की मुताबकत की रियायत बीच में इसको वह अमर जो इल्मानी को छोड़ दो मतबर फी इल्म बयानी इसलिए कि मकसद हाल की मुताबकत की रियायत मतबर है इसका अतबार किया गया है इल्म बयान के अंदर मा ज़्यादती शहीन आखरा दूसरी चीज़ की ज़्यादती के साथ और वो क्या है वह वह इरादानवाहिदी तुरुकिन मुख्तलिफ़िन और वो मान वाहिद का मुख्तलिफ तरीक़ पर लाना है अब बीच में जो लफ्ज़ लेकर आए हैं वह हुआ मर्ज इल्मानी और वो इल्म मानी का समरा है क्या मुख्त हाल की मुताबकत की रियायत इल्म मानी के अंदर इसका जो है लिहाज किया जाता है इल्म मानी में क्या होता है ये तो चीज़ होती है कि कलाम को मुख्त हाल के मुताबिक कर दिया जाए ये चीज़ें जो है इसके अंदर बतलाई जाती कैसे कैसे करना है वो सारी तफसीत इन आगे आई गई हैं यहाँ तक समझ में आई बात आगे एक किताब को शुरू कर रहे हैं जो फ़न है इल्म मानी वह हुआ और वो वो से मुराद नीचे निकाल दिया अय इल्मानी यानी इल्म मानी और वो ऐसा इल्म है यानी इल्म मानी ऐसा इल्म है मतन देखो यू अरफू भी अहवालफ़ल अरबी जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के अहवाल को पहचाना जाता है जाना जाता है जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ अखबाल को पहचाना जाता है कौन सा अखबाल को अल्लती बिहा हाली बिहा युताबिकुल लफ्ज़ मुख्तल हाली कि जिसके ज़रिए लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक होता है तो पूरी तारीफ ये हुई क्या इल्म मानी वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के उन अहवाल को जाना जाता है पहचाना जाता है जिसके ज़रिए लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक होता है तो ये जो तारीफ की इन्होंने और ये बिल्कुल आसान है इसमें अंदर कोई हेच पेच नहीं बाकी जो दरमियान की शरह है उसके अंदर भी गायराना तायराना नज़र डाल लो आई इल्म इसकी दो तारीफ इसके जो है दो मुराद बतलाई है कि इससे मुराद क्या है एक है मलाकातुन आई मलाकातुन एक है मलाका इनका माना मलाका और दूसरा नफ्सुल उसूली वल कवायद के उसूल कवायद उसूल जवाबित जो मालूम है यानी जो इल्म इल्म मानी से मुतल कवायद वगैरह हैं वो तो इल्म से मुराद क्या है कहते हैं कि दोनों हो सकते हैं कि मलका भी हो सकता है और उसूल जवाबित और फवाद भी हो सकते हैं देखो मलकातुन यकतदर बिहा अला इदराकातिन जुजियतिन एक तो ये है कि इल्म वो मलका है यानी इंसान में वो मलका हो कि जिसके ज़रिए वो लफ्ज़ अरबी को लफ्ज़ अरबी को मुख्तग हाल के मुताबिक कर सके इंसान के अंदर ऐसा मलका हो कि जिस मलके के ज़रिए लफ्ज़ अरबी को मुख्तज हाल के मुताबिक कर सके तो एक तो लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है सादे काम जईदन कामा खड़ा हुआ अब इसको मुख्त हाल के मुताबिक वो कर सके जेब के क्याम को तो बतलाना है लेकिन इसको मकसद हाल के मुताबिक कर सके ऐसा मलिका इंसान के अंदर पैदा हो जाए जैसे इधर इनकार है है ना तो क्या ताकि के साथ कलाम लाए तो इसके अंदर ये मलका हो कि अगर कहीं इनकार है तो उसके साथ ताकिद के साथ कलाम ले आए कहीं सख्त इनकार है तो उसके एतबार से और ज़्यादा ताकिदात के साथ कलाम ले आए फिर जैसा मौका हो से ही वो कलाम कर सके मलाका किसको कहते हैं ये पीछे आ चुका है मलाकतुन ये कैसी यदुन रासिफतुन जो कैफियत ऐसी कैफियत है जो नफ्स के अंदर रासिफ हो मैंने बतलाया था कि जब कोई सिफत इंसान के अंदर आती है तो वो अवलन हाल का दर्जा रखती है उसके बाद जब वो सिफत उसके अंदर पेवस्त हो जाती है और वो उसके अंदर पुख्ता हो जाती है तो फिर उसको क्या कहते हैं मलाकास कहते हैं लिसंग मलाका कहते हैं گویا કે वो उसका मालिक हो जाता है आई मलकतुन यक्तदरु بها আলা ادراકાત જズિયતિયત ইয়ാനി ઉસકે મત ইয়ാനി ઇન યે ઇલમ માની વો એસા ઇલમ હે ইয়ാനി એસા મલકા હે કે જિસ્કે ઝરીએ વો ادરાકાત જズિયતિયા પર કાદિર હો જાયે યહ પર એક મઝૂબ निकालेंगे आला ادરાકાત मुदरकातिन जुजियतिन अलादरकाती मुदरकातिन जुजियतिन के मुदरकात जुजिया के इदराक पर वो कादिर हो जाए इसको इस वजह से निकाल रहे हैं कि इदराकात इसकी सिफत जुजियत को नहीं बना सकते तो इसलिए यहाँ पर एक लफ्ज़ निकालेंगे मुदरकात तो फिर ये सिफत इस तरह से जो इसकी तरकीब ठीक हो जाएगा लेकिन सिफत नहीं बनेगी बल्कि इसका मुजाफिल हो जाएगा समझ रहे ना अरे इदराकाती इन जजियातिन तब वो मुदाफिल हो जाएगा और इदराकात ये हो जाएगा अगर कहेंगे इन जजियातिन तो इस सूरत में क्या हो रहा है मौसू सिफत हो रहा है और इदराकात की सिफत जजियत को नहीं बना सकते तो एक बात तो ये हुई इदराकात जजिया यानी मुद्रकात जजिया क्या वही जो ताकिद वगैरह के साथ कलाम लाना इन्ना तकदीम ताखिर वो सब चीज़ें वही इससे मुराद हैं अब दूसरा माना बयान कर रहे हैं वजूजू अनयुराद अभी और मुमकिन है जायज़ है कि मुराद लिया जाए इसके ज़रिए यानी इस इल्म के ज़रिए क्या नफ्सूली रसूली मालूमी मालूम नफ्स असूल और कवायद मालूम यानी वो असूल कवायद के जिनके ज़रिए इंसान लफ्ज अरबी को मुख्तज हाल के मुताबिक कर सके क्या मुराद है उसूल कवायद से हुँ? हम्म? अरे वो उसूल कवायद मुराद हैं कि जिनके ज़रिए इंसान लफ्ज अरबी को क्या कर सके मुख्तजाए हाल के मुताबिक कर सके वो क्या है ताकिद वगैरह यही ये उसूल कवायद है तो इन उसूल कवायद से मुराद अरे इन्होंने कहा ना नफ्स उसूल और कवायद जो मालूम है कौन सा कवायद अरे वही कवायद जिनके ज़रिए इंसान जिनके ज़रिए इंसान लफ्ज़ अरबी को क्या कर सके मुख्त हाल के मुताबिक कर सके तो वो जो उसूल है उनको यहाँ पर मुराद लिया गया है ये इबारत जो ना यह थोड़े से ये एक दूसरे के अंदर बहुत ऐसी पेशी दासी इन्होंने दे दी है हालांकि बात कोई इतनी ऐसी ना थी सीधी सादी बात थी फिर बड़े आदमी है तो बड़ों की बात बड़ी हो वह जूज और जायज़ है कि मुराद लिया जाए उसके ज़रिए से नफ्स वसूल और फवायद मालूम हों फिर अलमारफ़ती फ़िलजुज़ियाती और उनके मारिफत को इस्तेमाल करने की वजह से जुज़ियात में क्या मतलब कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया कहना ये चाहते हैं तारीफ देखो वह हुआ इल्म यफ़ू भी अरबी इल्म मानी वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के अहवाल को पहचाना है यफ़ू कहा देखो नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या वलम यकुल युलम तो नहीं कहा युरफू कहा क्यों जी ऐसा क्यों कहा उसी की ये बात बताना चाह रहे क्यों कहा वलिस्तेमालमारफ़ती जुजियात अरब जो है अरब वो मारिफत के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं किसमें जुज़ियात और इल्म के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं कुल्लियात में तो चूंकि अरब मारिफत के लफ्ज़ को जुज़ियात में इस्तेमाल करते हैं इस वजह से यहाँ पर ये यू अरफ का लफ्ज़ लेकर आए यू अलमू का लफ्ज़ नहीं लेकर आए क्योंकि जो चीज़ें हैं उसूल कवायद वगैरह हैं वो सब क्या है जुजती हैं वो सब जुज़ी हैं ये ताकीद है तकदीम ताखिर है तकदीम मुस्तदिले है तो सारी चीज़ें क्या है सब जुजियात हैं है ना तो जो जुजियात हैं इसलिए यूरफ़ों का लफ्ज़ लेकर आ का लफ्ज़ नहीं लेकर आए वलिस्तेमाल अलमारिफ़त फिलजुजियाती और उनके उनके दिन के फेल अरब के मारिफत को जजियात में इस्तेमाल करने की वजह से समझ में इसका जोड़ तोड़ क्या है आगे से है यू अरबों का लफ्ज आ रहा है वो क्यों आ रहा है इसलिए अहले अरब जजियात में मारिफत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर जो है बतात के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं बच्ची जैसे बोले जाते हैं ना आरिफ बिल्ला आरिफ बिल्ला अल्लाह को पहचानने वाला अल्लाह की ज़ात एक है और बसीत है अल्लाह की ज़ात एक है और बसीत है ये नहीं कहते कि ये आलिम बिल्ला है, कहते हैं क्या आलिम बिल्ला अल्लाह वाले जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है आरिम बिल्ला हम्म। देख जी वह आइल और वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के उन अहवाल को पहचाना जाता है जिनके वजह से लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक होता है अब जो इसके दरमियान में है उसको भी देखो आई हुआ इल्मुन जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के अहवाल को पहचाना जाता है यानी वो ऐसा इल्म है कि जिससे इदराकात जुजिया को मुस्तमत किया जाता है इस इल्म के ज़रिए से क्या होगा इदराकात जुजिया को मुस्तमत किया जाएगा कि कहाँ पर कैसा मौका है कहाँ पर क्या चीज़ लेकर आनी है ये सब चीज़ें जानी जाएंगी कहते हैं वो क्या है जरा का जजिया मारिफतु कुल्ली फर्दिन फर्दिन मिन जुजियातिल अहवाली वो हर हर फर्द का वो हर हर फर्द का जानना है पहचानना है मिन जुजियातिल अहवाल मजकूरती अहवाल मजकूरा की जुजियात में से कि जैसा जैसा हाल हो क्या तकाजा हो उसी एतबार से कलाम को लेकर आना ये चीज़ है हर चीज़ को जानना है बिमाना अन्ना यकरदिन यू जद मिनहा अम का नाना अन्नारिफहू बिदारिकल इल्म इस माना कर के उसमें से कोई भी फर्द जो पाया गया या पाया जाए तो अम का नाना हमारे लिए मुमकिन हो अन्नारिफ़ू बिदारिक इल्म कि हम उसको इस इल्म के ज़रिए से पहचान लें ये जो इन्होंने बिमाना अन्ना अय्या पर दिन बढ़ाया है ये भी एक शुबे का इजाला है यहाँ पर ऊपर मालूम हो रहा था या मारिफत कुल्ली फरदिन फरदिन मिन जुजियातिल अहवाली वो हर हर फर्द के मारिफत है अहवाल मजकूरा की जल्दी याद नहीं थे तो क्या हर हर फर्द की मार्फत हो जाएगी कितनी चीज़ें दुनिया के अंदर है हर हर फर्द की मार्फत हर हर फर्द को आदमी किस तरह जान लेगा तो ये बतला दे इन्होंने आगे से तो इसका मतलब ये है कि उसमें से जो जो फर्ज भी पाया जाए जो फर्ज भी पाया गया तो हमारे लिए मुमकिन हो जाए कि हम उसको उस के जरिए से पहचान तो अम का नाम लफ्ज लाकर उस शुभे को दूर कर दिया समझाए ना हम्म नहीं आई देखे तो नहीं अरे बोलो वकौल बिमाना अन्न से किस का इजाला क्या समझिए अरे ऊपर ये कहा ना हर हर फर्द का अखबाल मजकूरा की जुजियात में से जानना पहचानना तो हर हर फर्द को पहचानना कैसे होगा तो कहते हैं जो भी मुमकिन हो जो भी हमारे लिए मुमकिन हो उन चीज़ों का जान वक़ल बिहार लफ्ज मुख्तर हाल यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिसके ज़रिए लफ्ज़ मुख्तर हाल के मुताबिक होता है तो इससे कुछ चीज़ों से एतराज़ है तीन चीज़ें होती हैं एक तो होता है मान मुराद की अदायगी हम्म? ध्यान से जरा एक है माने मुराद की अदायगी कोई तो जेद खड़ा है काम जैदुल क्या था काम जैदुल जेद खड़ा है जैदुल काम क्या था जेद खड़ा है इन जैदुल कायम क्या था जेद खड़ा है अरे माने मुराद क्या है माने मुरादी क्या चाह रहे हैं हम हम ये चाह रहे हैं कि भाई खड़ा है ये बदला दे बस खत्म बात काम चेतन केवल तो भी ये बात साबित हो जाएगी एक है जो यहाँ पर जिक्र किया गया कि जैसा हाल ऐसा कलाम कलाम को मुख्त हाल के मुताबिक लाना ये वो चीज़ है जो उसके ऊपर अलग से होती है उसके खसूसियात होती है जैसे हाल देख खड़ा है लेकिन ये सोने वाला जो इनकार कर रहा है तो खड़ा नहीं है जेब खड़ा नहीं है तो अब यहाँ एक ये जो दूसरी चीज़ है ना कौन सी वाली कलाम को मकसद हाल के मुताबिक करना ये तो अब यहाँ पर एक हाल है कि वो इनकार कर रहा है तो अब क्या करना चाहिए ताकि के साथ कलाम लाना चाहिए तो एक चीज़ है ये एक तो ये कि मान मुराद को अदा कर देना और दूसरा मान मुराद को मकसद हाल के मुताबिक बना देना और एक तीसरी चीज़ है उसमें मुहसिनात बदिया का इस्तेमाल कर लेना यानी समय वो तुम्हारे सामने आई नहीं फिर उसको बुलावा पढ़ लेते तो चलता भी मुहसिनात बदिया वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से कलाम खूबसूरत बनता है तो यहाँ पर जो इल्म माने के अंदर हम बयान करेंगे वो तीनों में से पहली चीज़ दूसरी चीज़ को बयान करेंगे क्या कलाम को मुख्त हाल के मुताबिक करना क्योंकि पहली चीज़ सिर्फ मान मुरादी को अदा करना इससे अखराज और दूसरी चीज़ कलाम के अंदर तहसील यानी उसको खूबसूरत बनाना इससे भी अखराज है इस तारीफ करने के ज़रिए है तारीफ इसीलिए की जाती है ताकि वो अपने गैर को खारिज कर दे तो पूरा गैर से माने हो और क्या है अपने अपराध को जाने और दूसरों वगैरह से माने तकबीर वरब तकबीर रब्बा का उल्टा पढ़ लो और इसको जरा उल्टा करो कबीर रब बका राबा का है ना और उसका उल्टा कर दो काफ की तरफ से चलो क्या हो जाएगा अरे रा काफ रब बा का अब इसको इधर से पढ़ दो उल्टा का काफ बा रा क्या हो जाएगा कब्बिर हरकत तो बदल जाएंगी लेकिन अल्फाज वही रहेंगे तो मुहसिनात जो है मुहसिनात जो तीसरा है इनमें बदीर तो उसके अंदर यही चीज़ आती है कलाम को किस तरह खूबसूरत बना हमारा इसके अंदर तन्वल के अंदर ना तो ये मकसूद है कलाम को किस तरह खूबसूरत बनाया जाएगा और ना ही ये मकसूद है कि इसके अंदर सिर्फ मान मुरादी को अदा करना नहीं बल्कि माना के मान मुरादी को मकसद हाल के मुताबिक करना ये हमारा इसके अंदर मकसद है इसीलिए बदला रहे कि इसमें हम एतराज़ करते हैं एक दफ़े तारीफ देखो उसके बाद में फिर ये आगे का जो है एतराज़ इसको दूर करो वह हुआ इल्म और वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के उन अहवाल को पहचाना जाए जिनकी वजह से लफ्ज़ मकद हाल के मुताबिक होगा एतराज़ अनिल अहवालती लईसत बिहारी सिफती ये एतराज़ है उन अहवाल से जो इस सिफत के साथ नहीं हो जिस सिफत के साथ नहीं है उन अहवाल से अहतराज मतलू अलाली मसला अलाल है इजाम है रफ़ा है नसब है वमाश बारिक और जिसके मुशाद है अरे अलाल किसको कहते हैं अलाल हरूफ आते हैं ना हरूफ इल्लत वगैरह और इजाम है आपस में जो दो हरफों को एक साथ मिला देते हैं अलाल इल्लत वगैरह ये रफ़ा नसब जर ये सब चीज़ें किसका ताल्लुक इन बीमारी से नहीं अरे रफा नसब जर वगैरह ये अराब ये सब इनका किससे ताल्लुक है हैं मंतिक से ना किसे इसका ताल्लुक ना हो वमा अशबादारी मिम्मा लाबुद्दा मिनहु की तादियती असलिल माना इन चीज़ों में से के लाबुद्दा मिनहु की माना तादियती असलिल माना कि जो जिनका होना ज़रूरी है असल माना के अदा करने में इनसे सिर्फ असल माना अदा होते हैं ऐसे ही एतराज़ क्या है किससे वकदल महसिनातिल बदी من التجنيس والترسيع ونحوهما مما يكون بعد رعاية المطابقة और ऐसी महसिनत बदीया से एतराज़ है यानी तजनीज़ है तरसी वगैरह है इन मम्मा यकून उन चीज़ों में से हैं कि जो मुताबकत की रिया मुताबकत की रियायत के बाद होती है पहले कलाम मुख्त हाल के मुताबिक होगा मुताबकत की रियायत होगी उसके बाद में उसके अंदर ये सब चीज़ों का इन सब चीज़ों का लिहाज किया जाएगा इन सब चीज़ों को किया जाएगा जैसे तरसी है तजनीस वगैरह है कल्ब है जैसे बताया ना रब्बा का फकबिर है फला सद्दका वला सल्ला इस तरह की जो चीज़ें हैं पुराने करीम के अंदर बहुत ज़्यादा हैं ये सब क्योंकि असल में ये जो इन माने वगैरह पढ़ाए जाते हैं ना बलावत

كفها علم المعاني ليس علم المعاني عبارة ليس علم المعاني آه، ليس علم المعاني عبارة ليس بخبر ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك كيف پڑھتا ما فيه वल मुराद अन्नहु और मुराद ये है कि वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए से इन अहवाल को पहचाना जाता है मिन हईसु इस हैसियत से के उसके ज़रिए लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक हो जाए अब यहाँ से इन्होंने इसका खुलासा बदला दिया लूरी तारीफी व तनकीदी व तकदीम व तफरी इस बात के जाहिर होने की वजह से कि इल्म मानी वो नाम नहीं है अन तस्वूरी मान तारीफ तारीफ तनकीर तकदीम ताखिर इस बात हस वगैरह के मानी के तस्वूर का क्या कह रहे हैं कहते हैं कि भाई तस्वर का नहीं तस्दीक का नाम है फिर हमने कहा काइमुन काइमुन क्या क्या हुआ इससे कुछ मुख्तज आल के मुताबिक होगी है अरे कलाम मुख्तज आल के मुताबिक होगा इस मुफरत के तस्वुर के कहने से काइमुन कहा जईदन कोई कुछ मुताबिक लेकिन जब कहा जईदन काइमुन है ना तस्दीक तभी तो इस पर हुक्म लगेगा और उसके बाद ही मुख्तर के मुताबिक इसके अंदर लाई जाएगी अरे जैद खड़ा है अब देखा जाएगा हाँ भाई खड़ा है तो ये अब हम किसके सामने कलाम को पेश कर रहे हैं इसके बाद में तो देखा जाएगा तो ये उनके है तब कोई ताकिद लेकर आओ ताकि ले तो ताकिद लाई जाएगी बात समझ आई क्या कहना चाह रहे हैं इससे क्या समझ आई तू बता सिर्फ अगर ये कहेंगे कायमुन ये जैदन कहेंगे सिर्फ तस्वुर लेकर आएंगे तो उस वक्त में हाँ, उसको रुक नहीं लग सकता मुख्तर के मुताबिक तो जब होगी जब कोई कलाम होगा तस्वीर होगी उसके बाद में मुख्तार के मुताबिक तो ये हैसियत के कैसे यहाँ पर यही चीज़ को इसी चीज़ को बदलाना चाह रहे हैं और मुराद ये है कि वो ऐसा इन है जिसके ज़रिए इन अखबाल को पहचाना जाए इस हैसियत से कि वो के लफ्ज़ उसके ज़रिए मुख्त हाल के मुताबिक हो इस बात के ज़ाहिर होने की वजह से कि इनमें मानी व नाम है तारीफ तनकीद तकसीम तखिर इस बात हज वगैरह के मानी के नाम नहीं है के मालिक होगा अरे हे तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी हाँ इसका नाम नहीं बल्कि इन सबकी तस्दीक का नाम ठीक है ना वह भी आला यखरुज आन तारीखी इल्मबयानी तारीखी मिन हैसियती और इसी से यानी मिन हैसी की जो हमने कैद लगाई है इस कैद से निकल जाता है इनमें बयान की तारीफ से इनमें बयान की तारीफ इससे निकल जाती है वो भी आला हाँ और इस हैसियत की कैद से तारीफ से निकल जाता है क्या इल्म बयान क्योंकि उसके अंदर लफ्ज के अहवाल से इस हैसियत से बेहद नहीं होती वहाँ पर जो है वो बदलाई थी पीछे दो चीज़ें होती हैं वाकई में बयान आएगा वहाँ इन चलिए